विवेक चूड़ामणि ब्रह्म भावना अस्थूल तदसन्निरस्य सिद्धम सतो प्रतर्क अतो मृषा प्रतीत जहे जहेहि अस्वात्मतया गृहीत ब्रह्माहमित्येव विशुद्धबुद्ध्या विद्धि समात्मानमखण्डबोधम् अस्थूल मन्मन रस्व मदीर्घम उपनिषद इत्यादि श्रुति की असत स्थूलता आदि का निराश करने से आकाश के समान व्यापक अतर्क वस्तु स्वयं ही सिद्ध हो जाती है इसलिए आत्म रूप से गृहित ये देह आदि मिथ्या ही प्रतीत होते हैं इनमें आत्मबुद्धि को छोड़ और मैं ब्रह्म हूँ इस शुद्ध बुद्धि से अखंड बोधस्वरूप अपने आत्मा को जान मृत्कार्यम शकलम घटादि सततम मृन्मात्रमेवाभित तद्वत्सज्जनितं सदात्मकमिगं सन्मात्रमेवाखिलम् यस्मान्नास्ति सत परं किमपि तत्सत्यं स आत्मा स्वयं तस्मात्तत्त्वमसि प्रशातमल ब्रह्माद्वयं यत्परम् जिस प्रकार मृत्तिका के कार्य घट आदि हर तरह से मृतिका की ही है उसी प्रकार सत से उत्पन्न हुआ यह सत्स्वरूप संपूर्ण जगत सन्मात रही है क्योंकि सत से परे और कुछ भी नहीं है तथा वही सत्य और स्वयं आत्मा भी है इसलिए जो शांत निर्मल और अद्वितीय परब्रह्म है वह तुम ही हो निद्रा कल्पित देश काल विषय ज्ञात्रादि सर्व यथा मिथ्या तद्वरिहापि जागृति जग स्वाज्ञान कार्यत्वतः यस्मादेवमिदं शरीरकर्ण प्राणाहमाद्यप्यसत् तस्मात्तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम् लक्ष्मी नारायण जिस प्रकार स्वप्न में निद्रा दोष से कल्पित देश काल विषय और ज्ञाता आदि सभी मिथ्या होते हैं उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी यह जगत अपने अज्ञान का कार्य होने के कारण मिथ्या ही है इस प्रकार क्योंकि ये शरीर इंद्रियां, प्राण और अहंकार आदि सभी असत्य हैं अतः तुम वही परब्रह्म हो जो शांत निर्मल और अद्वितीय है जाति नीत कुल गोत्र दुर्गम नाम रूप गुण दोष वर्जित देश काल विषयातिवर्ति ब्रह्म तत्वसी भावयात्मने जो जाति नीति कुल और गोत्र से परे हैं नाम रूप गुण और दोष से रहित है तथा देश काल और वस्तु से भी पृथक है तुम वही ब्रह्म हो ऐसी अपने अंतकरण में भावना करो शकल वाग गोचरम गोचरम विमल बोध चक्षुष शुद्ध चिद्घन्मनादिवस्तु ब्रह्म तत्वसी भावयात्मने जो प्रकृति से परे और वाणी का अविषय है निर्मल ज्ञान चक्षुओं से जाना जा सकता है तथा शुद्ध चिदघन अनादि वस्तु है तुम वही ब्रह्म हो ऐसी अपने अंतकरण में भावना करो षड्भिरोर्मेभिर्योग योग हृदय भावित न कर्णैर्भावितम् बुद्ध्यवेद्य यद् ब्रह्मा तत्त्वमसि भावयात्मने यत्र भान्ता कल्पितं तद्विवेके तन्मात्रं नैव तस्माद्विभिन्नं स्वप्ने नष्टे स्वप्नविश्वं विचित्रं स्वस्माद्भिन्नं किन्तु दृष्टं प्रबोधे जिसमें कोई वस्तु भ्रम से कल्पित होती है विचार होने पर वह तद्रूप ही प्रतीत होती है उसके पृथक नहीं स्वप्न के नष्ट हो जाने पर जागृत अवस्था में क्या विचित्र स्वप्न प्रपंच अपने से पृथक दिखाई देता है क्षुधा पिपासा आदि छह उर्मियों से रहित योगी जन जिसका हृदय में ध्यान करते हैं जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता तथा बुद्धि से अगम्य और स्तुत्य ऐश्वर्यशाली है तुम वही ब्रह्म हो ऐसी चित्त में भावना करो